अभी सर्वम जीवितम यदि मान लो इस अनित्य संसार में आपके द्वारा दिया हुआ सारा वस्तु कभी नित्य तो हो नहीं सकता इसलिए सारा जीवन भी तो थोड़ा ही सर्वम जीवितम अपनी अल्पम अभी गलत बात है सर्वम जीवितम अपनी आपके दिए हुए सारा आयु को मैं जीवी हूँ तो मेरे लिए वह अल्प ही होगा क्यों उनकी मुक्ति तो हुई नहीं ना तीसरे वाल पे नाल में सुगम उमाते हुए सुगम नाल में सुगम छंद परिषद में सनत कुमार जो नारद जी को समझाते हुए कहते हैं अल्प में कभी तो सुख नहीं हो अरे जो कुछ भी आप दे रहे हो जब तक ये नहीं कहोगे तुम जो है ना जरा मृत्यु को पार कर वो मैं तुमको वर्ग नहीं करूंगा क्योंकि मैं मोक्ष दे दूंगा मुक्ति दूंगा ये जब तक नहीं कहोगे तब तक ये सारी चीजें क्या है अल्पमेव सब अल्प ही और अल्प में सुख नहीं होते सनत शरत कुमार की उद्घोषणा है तीसरे परमाणु को प्राप्त कराने वाले वस्तु नहीं है जो कुछ भी आपने दिया है अतएव अवयवाह जितने भी आपने घोड़ा घोड़ा दिया ये सब आप अपने पास ही रखिए ये जो गाने वाले बजाने वाले सब दे रहे हो गाना बजाना ये भी सब अपने पास तब ये न तुम तो आप ही लीजिए आप ही मौज कीजिए हमें कितना बड़ा वैराग स्वभाव स्व भविष्य न भविष्य वाई संधीय भवनम स्व भविष्य न भविष्य कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें भी संशय है ऐसे हैं जो भाव मान अस्तित्व जिनका ऐसा है अस्तित्व स्वरूप जिनका उन वस्तुओं को त्वया उपन्यस्ता नाम भोगा नाम आपके उपन्यस्त सारे भोगों का यही दशा है इसलिए इन वस्तुओं को हम नेक नाम पुकारते हैं किंच मृत्यु से मनुष्य से अंत का हे मृत्यु ये इन मृत्युओं का भी तुम क्या है अंत ये जितने मृत्यु है ना तुमने दे रखा है इनको अंत करने वाले भी आप ही इनको मिटाने वाले इन एक घोड़ों को भी छीनने वाले एक एक हाथी को भी छीन लेने वाले आप ही यदि तक सर्वेन्द्रिया नाम तेजा चरयंत्री अपक्षयन और ये जो सर्वेन्द्रियों के अंदर तेज है उस तेज को भी ये क्या करेंगे शून्य कर देने वाले इसलिए कहते हैं जो सुख जीवन प्रयोजक जो सामर्थ्य जैसे क्या है ना सुखपूर्वक जीवन जीने का जो सामर्थ्य है उसको ये नष्ट करने वाले हैं अपसर प्रवृत्यो ही भोग अनर्थ ही वह ये कहने का तात्पर्य ये अपसर प्रवृत्तियां जो भोग है ये सारे के सारे ये सर्वे अनर्थ ये सारी चीजें अनर्थ देने वाली अनर्थ असह्य दुख हित तो एक नहीं असह्य दुख देने वाले तो ये जो जितना समय ज्यादा आपके पास टिका और लोप हो जाए तो उतर ही जाते ये तो थोड़े समय के लिए आपके साथ आना सुख नहीं देता इसलिए मान लीजिए अब क्या घरों में आप देखते ही हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ मर गया तो दुखी करने हर हो गया कहीं पांच साल छह साल जी करके मर गया थोड़ा उसके बाली लीलाएं याद आती रहती है थोड़ा परेशान लेकिन बीस बाईस साल का जवान मर जाए बड़ा तो इतना पढ़ाया लिखाया रोज जूता उसे पहनाया नहीं ड्रेस पहनाया स्कूल ले गया ले आया इतना मेहनत किया हुआ इसका बच्चे और वो चला गया कितना उसे भी आगे बढ़कर शादी हो गई तो छोटे बच्चे करके मर गया फिर तो बस बहू को भी जीने नहीं गया तो तेरे वजह से और भयंकर दुख है इसलिए जो जितना ज्यादा समय संग्रह रखता है और फिर छूट जाए उतना ही दुख देता है और आपने चीजें ऐसे भी अफसराए वगैरह ये तो बहुत समय तक मेरे पास रहेंगे और फिर अंत में चले जाएंगे तो मैं तो चिरंजीवी ये तो चिरंजीवी है ये तो चले जाएंगे तो चले जाए तो बहुत है दुख इसलिए कहते अनर्था यही भाई ये ते, ते जो यश प्रवृत्ति नाम क्योंकि अंत में क्या होगा तेज को विनाश कर दिया ऐश को भी नाश कर देते हैं सारी चीजों को नाश कर देने वाले हैं सब कुछ नष्ट होने हम्म। हाँ मैंने इंद्रिय कला जितना भी रहेगा फिर भी कहना है इसका है आप जो भी दोगे वो संसार का वस्तु होगा तुम होगा लेकिन संसारिक वस्तुओं के स्वभाव के खिलाफ आप नहीं जा सकते आप मुझे चिरंजीवी बना सकते हैं इंद्रियों को चिरंजीवी नहीं शरीर को चिरंजीवी नहीं बना सकते ना सूक्ष्म शरीर चिरंजीवी रह जाएगा लेकिन शरीर का अंत तो बतला कितनी आप जवानी दोगी तो भी एक न एक दिन पंचभूतात्मक वस्तु का तो संहार ये नष्ट हो ये एक अपेक्षित नित्य था वहां पूर्व में कहने का तात्पर्य था अपेक्षित जैसे जो है अन्य आदमी पचास साठ उम्र सत्तर उम्र वयाग्रा की गोली खा खा करके नब्बे उम्र तक भोगेगा और क्या नहीं ठीक है आपको जब पांच सौ साल तक भोगने देंगे उससे ज्यादा और क्या हो गया शरीर का स्वभाव है ये तो नष्ट होना है ज्यादा चलना है नहीं इसलिए आप मुझे चिरायु बनाए दीजिए मुझे चिरायु को बनाने का मतलब क्या शरीर को नहीं शरीर को तो कोई चिरायु बना ही नहीं सकता तो संसार धर्म है सांसारिक धर्म वाला वस्तु है पांच भौतिक धर्म वाला वस्तु है वो नष्ट तो होना ही इतना ही है कि सापेक्ष आप सौ साल एंजॉय करेंगे वो हजार साल एंजॉय करेंगे नष्ट को तो इसलिए यहाँ पर पहले कहा था भाष्यकार ने जो है कि आ, संसार कहाँ प्रयोग किए थे संधीयमाना भवनम तो उपन्यस्त तेज प्रवृत भोग अनर्था जागना चिरंजीवी भले हो जाएगा सुख शरीर चिरंजीवी हो जाएगा लेकिन स्थूल शरीर चिरंजीवी ऐसी क्षमता को बढ़ा सकते जैसे आधुनिक जमाने में आप देख रहे हैं तीन सौ साठ नाम की गोली है तीन सौ साठ गोली बना भया कराए गोली दवाई ऐसी बहुत सारी चीजें आज जमाने में चल रहे हैं स्प्रे आ गए शरीर के अंगों पर स्प्रे कर दो वज्र जैसे हो जाए शरीर आनंद में ऐसी चीजें बन गई कितना ये दे आपको ताकत स्वभाव वाली बात है कितने दिन तक टिकेगा गोली खा रही कितने घंटे चौबीस घंटे उसके बाद में क्या होगा बैटरी डाउन टिकने तो है नहीं तो कहने का इसलिए यह है कि शरीर वो दे रहा है सकल इंद्र कलाप युक्त देगा वो मजबूत शरीर देगा लेकिन जितना भी मजबूत देगा तो एक नहीं दिन उसको होना इसलिए हमने कहा यहाँ इसलिए छपी यांचा भी दीर्घ जीविका तुम सी देखो आगे ये जो दीर्घ जीविका भी जो तुम देना चाह रहे हो तथा सुनो उस विषय में मैं जो कहूंगा सुनो अच्छी तरह से जो कुछ भी देना चाहते हो ना वो सब संसार धर्म वाले ही है और संसार धर्म वाले तुम दे रहे हो क्या कोई चीज आपने जितना गिना और दे रहे हैं वो सब संसार धर्म ही है सर्वम ब्रह्मणों भी जीवितम आयु अल्पमेव दूसरों की बात क्या कहूँ वो ब्रह्मा जी का आयु पर्यंत भी आयु हमें दे दोगे ना वो भी अल्प ही है ब्रह्मणों भी जीवितम आयु सर्वम सबसे यदि आप देना चाह रहे हैं तो भी अल्पमेव किमुत दीर्घ जीविका पर हम लोगों की चिर जीविका दीर्घ जीविका है चिर जीविका सबसे से वह भी वास्तव में अल्प ही है तथा नृत्य गीते इसलिए जो आप मुझे देना चाह रहे हैं वो आप अपने पास ही रखिए तो आपके पास ही रहने दो हमें नहीं चाहिए तो क्यों ऐसे कहते हो जी उल्टा उल्टा क्यों सोचते हो हम जैसा कहे वैसे मान लेना चाहिए बच्चे हो कहते नहीं मारा है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लक्ष्यामय वित्तम मद्राक्ष चेत्वा जीविष्याम यावदीशिष्यसी तम वरणीय सहीव तब तो कहता कि नहीं हो सकता है हम जो है बहकाने में आ नहीं रहे हैं आगे और न हम अविवेक पूर्वक इनको त्याग रहा हूं मैं जानता हूं इन चीजों से कभी तो तृप्ति हो नहीं सकती है और जहां जब आयु बात जब यमराज जिस पर प्रसन्न हो जाए आप जितना अधिक चाहेंगे उतना तो हम जियेंगे इसी कोई संशय आयु के बारे में तो हमें मांगने की जरूरत है और बाकी चीजों से कभी तृप्ति तो होनी नहीं इसलिए ये वर हमें नहीं चाहिए ये तो वही चाहते हैं जो हमने न न तर्पणियो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्त मद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो शिष्य सिद्धम में वरणीय सैव कहते हैं देखो आप हमें धन दौलत का प्रलोभन देना चाह रहे हैं लेकिन हमने तो ये सुना है कि बड़े लोगों का दर्शन करने मात्र से धन दौलत मिल जाता है वैसे पहली बात तो यह है इन धन दौलतों से तृप्ति तो होती है मनुष्य कभी धन दौलत को इकट्ठा करके उनको उपभोग करता हुआ उसके द्वारा अपने योगक्षेम से तृप्त कभी सकता और भी मुझे धन दौलत चाहिए भी वो भी मुझे जो आपके दर्शन होने मात्र से ही मुझे मिल जाएगा मुझे अलग से जो है उसके लिए वर्ग के रूप में मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि देवताओं का दर्शन प्रसन्नता पूर्वक यदि वो दर्शन दे रहे हैं उस दर्शन मात्र से हमें सकल ऐश्वर्यों की प्राप्ति और जहां तक आयु की बात है जब आप प्रसन्न है तो कौन मुझे मारेगा कोई दूसरा मृत्यु देवता तो है इसलिए जब तक आपके शासन है इस सृष्टि में तब तक तो मेरी आयु पक्की है क्योंकि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है मुझे तो मारेंगे नहीं और तीसरी बात ये भी है कि मैं आपका शिष्य हूँ क्या ऐसा कोई गुरु इस संसार में हुआ जो अपने शिष्य का कत्ल करे तो हुई नहीं इसीलिए आयु की भी हमें वरदान मांगने की जरूरत है क्योंकि आप हमारे प्रसन्न हैं आप हमारे गुरु भी हैं अवस्था से मृत्यु देवता है कोई तीसरा मृत्यु देवता है ही नहीं जो मुझे मार डाले इसलिए आयु भी मेरे के लिए गारंटीड है धन दौलत भी गारंटी से मिलने वाला है भले उसे तृप्त हो या न हो इसलिए उनको मैं वर के रूप में मांगने की मुझे जरूरत अतः मेरा आयु है वर मांगने योग्य तो वही है जो मैंने पूछा है इतना सुंदर युक्ति से जवाब दे रहा है न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य मनुष्य जो है वित्त के द्वारा तर्पणीय नहीं है वित्त उनके सारे न केवल पैसे से मतलब जितना उन्होंने दिया तब जो है रथ है अफसराए बाजे गाजे जो जो भूमि राजा बनना सारा वित्त लेना इनसे वह कोई तृप्त होता नहीं और लक्ष्या महे वित्तम अद्राक्ष चित्त यदि मैंने चेत में यदि मैंने त्वा अद्राक्ष आपका दर्शन कर लिया है तो वित्तम लक्ष्या में तो अपने आप मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ जैसे धर्मराज भगवान का दर्शन हुआ है इस दर्शन से कोई लाभ नहीं होगा पहले शास्त्रकार ने कहा है देवताओं की उपासना करने का अदृष्ट फल क्या है उस देव भाव को प्राप्त कर जाना मरने के बाद उस लोक को प्राप्त करना मरने के बाद यह अदृष्ट फल है लेकिन दुष्ट फल क्या मिलेगा इस संसार का सुख जब केवल देवता की उपासना करने से दृष्ट फलत्व यह लोग का सुख और अदृष्ट फलत्व देव भाव की प्राप्ति कहा गया है और यह उपासना क्या करना साक्षात हम आमने सामने बातें कर रहे हैं वहां तो उपासना में करने वाले को उपास्य का दर्शन नहीं है वो केवल मन में सोच रहा है भगवान के रूप को उस तो देवता के स्वरूप का चिंतन कर रहा है यही तो उपासना है और यहाँ तो मैं साक्षात आपसे वार्तालाप ही कर रहा हूँ आप मेरे सामने खड़े हैं प्रसन्न होकर आप मुझे वर भी दे रहे हैं तो ऐसी तो निश्चित रूप से मुझे दुष्टफल मिलेगा ही दुष्टफल क्या है धन दौलत जब आपका दर्शन मेरे को हो गया है निश्चित से मुझे धन दौलत मिलेगा ही क्योंकि जो उपासक को मिल सकता है मैं तो साक्षात दर्शक मेरे को तो मिलेगा जीविश्यामो से ईशिष्य इतना ही नहीं जब तक आपके शासन चलेगा इस धरती के ऊपर तब तक मैं जीवित रहूंगा ही इसमें भी कोई समझ नहीं कारण दो है एक आप मृत्यु देवता है प्रसन्न है आप तो आप मेरे को मारेंगे क्योंकि आपका प्रियतम आप अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रिय मैं हूँ ये नचिकेत तो बिल्कुल महसूस हो गया क्योंकि स्वर्गाग्नि के बाद जो उसने प्रशंसा करी यमराज जी ने और जो उन्होंने ऊपर से अपने तरफ से कुछ गिफ्ट भी दे दिया पारितोषिक दी इसे निश्चय हो गया नचिकेता को ये तो मेरे को अब अपने संतान से ज्यादा मैं इनको प्रिय हूँ ये तो मुझे मालूम और दूसरे तरफ गुरु शिष्य का संबंध भी हो गया और शिष्य को कैसे मारेगा कोई गुरु इसलिए भी मेरे को तो निश्चय है जब तक आपका शासन है तब तक मैं तो जीवित रहूंगा इसलिए आयु की कामना पूर्वक में वरदान मांगने की जरूरत नहीं है मैं वरणीय वरस्तु स्वयं मेरे द्वारा वर्णीय वर तो वही है जो पहले से पूछा किंच न प्रभूत वित्तर्पणीय मनुष्य प्रभूत वृत्त वृत्त के द्वारा भी मनुष्य का वितरित नहीं होता नहीं वित्त लाभ लोग कस करो दृष्ट क्योंकि श्लोक में देखा गया है जितना भी वित्त लाभ हो जाए उससे उसकी कभी तृप्ति होती नहीं है इन लोगों का भी मालिक हो गई ऐसे की कहानियां आए राक्षसों की लेकिन कहा तृप्ति तृप्ति नाम की चीज थी नहीं इंद्र को अपने घर में कैदी बना लिया ब्रह्मा जी को कैदी बना लिया कुबेर को कैदी बना लिया क्या कमी था उनके पास इंद्र भी सारे गड़बड़ कर दिए तृप्ति नहीं इसे कल इस श्लोक में हमने यही देखा है सुना है जाना है समझा है कि कोई भी व्यक्ति वित्त लाभ से तृप्त नहीं होगा यदि नाम अस्नाकम वित्त तृष्णा यदि मान में लिया जाए मेरे अंदर वित्त की तृष्णा है तो लक्ष्यमय है मैं अवश्य प्राप्त करूंगा ही कैसे करोगे वित्तम अद्राक्ष दृष्टवंतो वयम चेतवा यदि मैंने आपको दर्शन किया है तो निश्चित रूप से वो चीज मुझे मिल ही जाएगी अर्थात वर्ण निरपेक्ष तब प्राप्ति कहने का मतलब साधु नाम दर्शन पुण्य साधुओं का दर्शन से पुण्य होता है अजब पुण्य हुआ तो धंधा लो सुख तो मिलेगा ही है ना गंगा का दर्शन से भी हो जाता है तो आप तो साक्षात देवता है आपके दर्शन से क्यों नहीं मिलेगा अरे वर निरपेक्ष धन प्राप्ति यदि मेरे अंदर कृष्णा है तो ही अवश्य मिलने वाला है जीवते अपनी तथैव जीविष्यामो जीवित का विषय में भी आप मुझे देना चाहते थे चिर जीविता दीर्घ लंबी आयु वगैरह उसकी कोई जरूरत नहीं है क्यों जीविष्यामो यावत याम्य पदे तुम ईशिष्यसी तुम ईशिष्यसे प्रभु स्याह क्योंकि जब तक आप इस यम पद पर शासन करते रहेंगे ईशिष्य से प्रभु प्रभु मैंने स्वामी बन के रह रहे हैं आप इस पद में तब तक तो मैं निश्चित से जीवित रहूंगा ही यहाँ पर टिप्पणकार कहते हैं जीव श्याम भाव भगवान एवं सर्वेशा अपहारी शिष्य से आहार भव भवतो नचाचार्य शिष्य स्वक्यम हिनस्ती भवान एवं सर्वेशा जीवनोपहारी आप इस तरह के जीवन को अपहरण करने वाले हो और आप इस समय हमारे पर प्रसन्न है तो उसी से ही एक तो कट गया मामला अल्पायुक्त का और दूसरी बात शिष्य अहम भवतो मैं तो आपका शिष्य भी हूँ और न आचार्य शिष्य मेहनती कोई आचार्य आज तक ऐसे नहीं हुआ जो अपने शिष्य को मार दे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं दे सकता बल्कि वे गुरु हमेशा शिष्य को डांटता भी है मानस दृष्टि को मानस हिंसा भी देता है मान लो तो भी उसी के भला के लिए कहा ये कहानी है शास्त्र का विधान ही है पिता कभी अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए गुरु को कभी अपने पुत्र शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी उसके साथ यदि हम्म, प्रशंसा किया तो हो गया छुट्टी मामला हो गया और शिष्य नगन नरक में चलते क्यों उसके अहंकार बढ़े गुरु जी मेरे को इतना अच्छा मेरे बराबर कोई यही तो वह प्रभाकर का हाथ महावीर भट्ट ने एक मंत्र को लेकर के एक कॉमन नहीं डाला गया था चिन्ह नहीं था तो पंक्ति उनकी नहीं घट रही थी पूरा पढ़ रहे थे नहीं घट रही थी परेशान हुए कुमार भट्ट तो छोड़ करके चले अभी छोड़ो बाद में देखेंगे अब चुपचाप जो प्रभाकर ने उसमें कॉमन लगा दी तेज बुद्धि था शिष्य का उसने लगा दिया तो आए फिर देखे पंक्ति कट के लग गई ध्यान दिया फिर इसमें ई, ई कौन लगाया अभी लगता अभी लगाया है शायद लगा कि नहीं बताओ सच अच्छा, सोच समझ हम तो अच्छा आओ कुछ लोग कहते आज तुम गुरु है और ये बगल बिठा दिया आसन हाँ, दे बराबरी थी और तो उसके इतनी अहंकार हो गया हो गुरु के हर मत का खंडन भगवान भटके ही मतों का खंडन वो अपने उल्टा नहीं सीधा अपना सिद्धांत नहीं मानता तो हो ना अब कुमार भट्ट देखो बौद्ध गुरु से पढ़े फिर उस बौद्ध दर्शन का खंडन किया सनातन धर्म की स्थापना करी तो उन्होंने उस गुरु उसको भी गुरुद्रोह मान करके गुरुद्रोह नहीं था यथार्थ कथन किया केवल वैदिक सिद्धांत की स्थापना करा लेकिन उसको भी वो गुरुद्रोह मान करके उसे के आगे मर प्रायश्चित किया एवं प्रभाग्रह नहीं किया ये साक्षात गुरुद्रोह था तो वैदिक सिद्धांत में ही विकल्प खड़ा करके संशयग्रस्त कर दिया सिद्धांत को इसे बड़ा पाप क्या होगा लेन वो भूसे वगैरह आश्चित नहीं किया जरूर नरक दिया होगा लेकिन आचार्य जो है ना कभी शिष्य का निशान नहीं लेकिन वो जो डांटते हैं भटकारते हैं या पीट भी देते हैं लेकिन वो केवल उसी शिष्य का कल्याण के लिए है फिर ही उसको हिंसा देना तो भावना ही नहीं और सदा उसके भावना यही रहता है गुरु के अंदर कि भाई ये कैसा आगे बढ़ेगा ये गलत कर रहा है गलत सोच रहा है गलत समझ रहा है व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी गलत कर रहा हो तो चाहते इसकी व्यवहार शुद्धि भी हो जो ये जब भी व्यवहार शुद्धि नहीं तो अंतकरण शुद्धि नहीं अंतकरण शुद्धि के बिना ज्ञान कैसे बचेगा इसलिए वो भी कृपा ही है वो हिंसा भी हिंसा नहीं है वो भी कृपा ही है किस प्रकार से आप कहते हैं कृतवृत्ति हिंसा हिंसा न होती है गुरु द्वारा दिया गया पीड़ा भी पीड़ा न भगवती तदपि आशीर्वाद ये समझना है इसलिए कहते हैं नचिकेता आप तो मेरे गुरु हैं मैं तो शिष्य तो ग्रहण कर चुका हूँ इसीलिए मेरे तो हिंसा हो ही नहीं सकती किसी प्रकार से मेरी मौत तो सवाल ही नहीं उठता इसलिए आयु संबंधी कामना को लेकर के मुझे वर के रूप में प्राप्त करने की जरूरत नहीं तो मुझे वर निरपेक्ष या ही प्राप्त कथम मत्यस्तया सम समेत्य अल्प अल्प धनायुर्भवेत कथम ही मर्तया समेत्य अल्प धनायुर्भवेत क्योंकि जो है कहते हैं देखो कहा गया वो नीचे वो स्मृति भी दे रहे देखो स्मृति श्लोक नीचे टिप्पण में पढ़ो तब वह पंक्ति घटी दैवती सह संगम्य देवतुल्योभिजाते ये यतो दोषान गुणान लोके संगम फल भगवान विदु यादृशे न समासक्त नरो भवती तादृश इत्ययञ्च नयो लोके रूढ़िमा रूढ़वान दृढ़ा स्मृत्यंतर से दे रहे हैं देवताओं के साथ समागम जब हो जाता है वह व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है नीचे गेदा के दिमाग में स्मृति है तभी वो कह रहा है जब मेरे आपके साथ समागम हो गया ये हमने पहले कहा जो उपास्य के साथ उपासक के मानस समागम करता है मानस मानस ऐक्यता को धारण करता है पुत्री मात्र से देवता बन जाता और यहाँ तो साक्षात समागम हो गया है ना यहाँ तो साक्षात समागम है जिससे मैं आपके तुल्य हो ही गया अर्थात मैं मरती कहाँ रह गया खत्म हम मर्ती है मेरा मर्त में कहा रह गया मैं तो देव तुल्य देवता ही हो गया अब मेरे भी मौत होने वाला ही नहीं पिता ही नहीं आ गया कहा यह तो दोषान गुणान लोके संगम प्रभुआन संघ से आधार पर दूसरे संग दोष कहते हैं तो बेड़ा को क्या कहते इसका संघ दोष है इतने अच्छे हैं अरे इसके संग अच्छे ये सत्संगी जो गुण है या दोष है इस लोक में देखा गया है संगम का ऐसे जानो संघ से कुछ पर होते अच्छे संग करोगे तो अच्छे गुण आएंगे खराब संग करोगे तो खराब गुण आएंगे यादृश न समा सकते नो भगवती जिसके साथ जिस प्रकार के लोगों के साथ वह समागम करता है वह भी उसी प्रकार वाला हो जाता है क्योंकि अयंच न लोग इसलिए यह बात को हम लोगों में से इस लोक में रहते जो समझ लेता है रूढ़ी आरूढ़वान देना वह निश्चित रूप से उस रूढ़ी को ग्रहण करेगा उस रूढ़ी को मैंने मतलब उस सीढ़ी को पकड़ेगा जिससे वह आरूढ़ हो जाएगा यह आरूढ़ होना ही कठिन आरूढ़ का भगवान ने कहा है दो ही होते एक एक आरूढ़ वो जरूर आरूढ़ हो जाए दृढ़ आरूढ़वान दृढ़ रूढ़ी को पकड़कर आरूढ़ हो जाए दृढ़ रूढ़ी गृहित आरूढ़वान भवती इसीलिए नचिकेता इस आधार ही है कथम अहम अर्त्य त्वया तो समित अल्पजनायुषा और आयुर्भवे जब आपके साथ मैं समागम कर चुका हूँ तो समित आपके साथ जब मेरी समागम हो चुकी है अब मैं मृत्यु कैसे कथम अहम मर्त्य कथम अल्प अल्पधनायु भवे कैसे मैं धनायु वाला हो सकता हूँ इसीलिए इन चीजों को मुझे वर्ग के द्वारा प्राप्त करने की कितनी बड़ी युक्ति है नचिकेता के अंदर गजब युक्ति दे दिया वर तो मैं वर्णीय सैव यदा इसलिए वर्णीय वर तो मेरा वही है जो बड़ा आनंद आता है नचिकेता का स्वरूप को देखने से है ऐसा योग्य शिष्य कहाँ से मिले अजीव्यता अमृता नाम उपेक्षण जीवन्मर्त्यजानम् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् को रमित और भी बात कह रहा है देखो अजर अमर देवताओं के समीप जा करके वह तो मूर्ख कौन होगा जो केवल कुछ धन दौलत और आयु मांगेगा वो तो रावण से मूर्ख रावण ने क्या किया आत्मनिर्भर तो ले आऊंगा ऐसा माँ को वचन दिया और बड़ी कठोर भाषा भगवान शंकर प्रसन्न कहीं साथ में जरूर कोई मायावी पार्वती को लेकर पार्वती और रावण के सामने खड़े हुए बोलो क्या चाहिए उसकी दृष्टि में वो इतनी सुंदर कमाल है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा हम मोर जब भूल गया तपस्या किसने किया था आत्मनिर्भर और क्या मांग रहा है तो मुझे ये देखो पार्वती को दे भगवान के पुत्र आप लेके चल पड़ा काफी दूर आ गया लंका पहुंचा है तो सब तरह नारद जी पहुंच गए नारद जी कहते क्या कर रहा है तो क्या होगा इतनी बढ़िया दी हुई है कहीं है समझदार इसके सरकश अरे देख पीछे मुर्गी थोड़ा कैसी देवी देखा भी तुमने बाद में भी देखा देखो भयंकर ऐसा विकराल रूप था देख के कांपने लगे रावण देख रहे भजन नारद जी ये क्या हो रहा है नारद जी पकड़ लिया डर के नहीं भाई तेरा पाप मूर्ख तुमने क्या किया था याद कर किस लिए तू आया था बस याद किया पैर पकड़ा नारद जी को माफी मांगा राजी तुम छुड़ाओ ये कहा से अभी छुड़ाई इसको छुड़ा दो रचन मन पर नारद जी ने जो छड़क दिया वो तो अपने माया थी भगवान की स्वरूप में चली गई हो और बात दोबारा तपस्या कर गए तो मूल क्या होते हैं देवता से मिलकर के औरती मांगते तो लेकिन ये कहता है मैं ऐसा मूड नहीं हूँ कि आपसे मिलकर के धन धन तो आयु मांगूंगा वेद कहता है अमृता नाम उपेत्य जो अजीर्ण है अजर है ऐसे जो अमर है ऐसे लोगों को उपेत्य उनके समीप पहुंच कर जीर्यन मर्त्या दत्ता प्रजानन को रंगेता उसके चिंतन नहीं होगा कौन मनुष्य होगा जो इस पृथ्वी रूपी अधल लोक में तो या कहा खड़ा है वो स्वर्ग में यमुना जी के पास यमुलोक में खड़ा है ना उससे नीचे कौन है अंतरिक्ष लोक उससे नीचे कौन है ने पृथ्वी पृथ्वी कहा है आधा नीचे लोक उसमें स्थित रहने वाला कोदस्ता मर्त्य जीवन तो मरणशील है जरा से ग्रस्त है इस बात को वह अपने आप को जानते हुए प्रजानन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घ जीवित वर्ण और अधि आदि के आनंदों को तो स्मरण करते हुए अति दीर्घ समय तक जीवित रहने की इच्छा कौन कर सकता है आप देशों को अजर अमर को प्राप्त करके जो पृथ्वी जैसे लोक में रहने वाला जरा और मरण से ग्रस्त हूँ यह जानते हुए भी विषयों को ध्यान करके लंबी आयु को कौन चाह सकता है मैंने कोई बुद्धिमान विवेकी तो नहीं चाहता और उसमें भी मेरे जैसा विवेकी जो इस बात को जानता है जो पूर्व में आपने देखा देवताओं को प्राप्त कर जैसे होते वैसे हो जाते इसे जानना जानता हुआ विवेकी मैं कैसे धन दौलत आयु की मांग कर सकता हूँ अजीर्यताम अमृताना अजय अमर देवताओं के समीप जीरियन मर्त्या मैंने जदार मरण से ग्रस्त कुदस्त मैंने कुपृथिवी पृथ्वी उदरास्थित अधः अधोलोके तस्वीर तिष्ठन प्रजान जानते हुए भी कि मैं जरा मरण से ग्रस्त हूँ वर्ण प्रमोदन ध्यान वर्ण प्रमोदनों को ध्यान करते हुए अति दीर्घ जीवित है को मूर्खो को रमे तो को विवेक रमे तो यथश्च भाषिका यथश्च इसी कारण इस कारण से भी मैं उन चीजों को वर्ग करके प्राप्त करना नहीं चाहता कारण ये अजीब वयो हानि अप्राप्त बताम अमृता नाम सकाश वयो हानि को नहीं प्राप्त करने वाले अमृताम मैंने अमर धर्मा मरण मरण से भी रहित है जो ऐसे लोगों के सकाश उपेक्षा उपगम्य प्राप्त उनके पास पहुंचकर उन्हें प्राप्त कर आत्म उत्कृष्ट प्रयोजनातर प्राप्त प्रजानंद प्रजानन उपलब्धमाना कल क्या चाहेगा क्या आदमी आत्मना उत्कृष्ट प्रयोजन अपने को उत्कृष्ट प्रयोजनांतर चाहेगा उस चीज को नहीं चाहेगा ना जिस चीज से वो ग्रस्त होकर आया आपको बुलाया जाए कहीं पर आपको कहा जाए देखो भाई आप तो हमारे अतिथि हैं पर हमारे पास सारे साथ आपको चाहिए हम आपको इस कमरे में सुला सकते हैं जहाँ पर मच्छर खटमल हो गए चाहे हम आपको ये भी कमरा दे सकते हैं जैसे पंखा लगा हुआ है मच्छर नाम का चीज नहीं खटमल नहीं कुछ नहीं आप चाहेंगे हमारे पास ये भी कमरा है जिसमें ए सी लगा हुआ और आप चाहते इसी भी दिव्य भोगन संपन्न लक्षण का कौन सा चाहिए जमीन पर पैर तो छुएगा ही ऐसा कमरा भी तो क्या आप चाहेंगे आप तो यही कहेंगे भैया बुरा ना वैसे तो भी आप कहीं गुजर गए बढ़िया से बढ़िया जो कमरा है चीप एंड बेस्ट आज की भाषा सस्ता भी हो लेकिन बढ़िया से बढ़िया तुम तो रह चुके हो मच्छरों में और फिर भी रहना चाहेंगे जो मच्छरों का बीच में खटोनों के बीच में रहा हुआ है वो तो कहेगा कभी मुझे वही कमरा दे दो मुझे वही अच्छा लगता है वो नहीं कहे वो कहेगा उसे बढ़िया हमको चाहिए और मौका मिल रहा है तो दूसरी तो नहीं घुसने का सोचेगा तो फ्री में मुझे छोड़ दिया जाए वो तो बढ़िया है तो बढ़िया में घूम जाए ये चीज है आदमी के स्वभाव है जो जहाँ है वो उससे उत्कृष्ट को ही चाहेगा निकृष्ट को नहीं या तत्सम को भी नहीं चाहेगा ग्यारहवीं रसूल और यदि हम अजर अमर के बाद पहुंच गए और जरा मरण से युक्त हम हैं क्या हम उस उत्कृष्ट हम भी अजर अमर को नहीं चाहेंगे निश्चित रूप से चाहिए अगर आत्म उत्कृष्ट प्रजनन प्राप्त ऐसा प्रजानन उपलब्ध ऐसा जानते हुए ऐसा अनुभव करते हुए स्वयं जो जीवन मरते हो जरा मरणवान स्वयं कैसा है जरा और मरण वाला है वो कुहू पृथ्वी अन अंतरिक्षादि लोकापेक्षा तस्याम पृथ्वी और पृथ्वी कहाँ है अंतरिक्षादि लोगों के पीछा से अध है ऐसे पद में रहने वाले का नाम वदस्था कु वधा अभी है ना अदस उस पद में रहने वाला तस्याम तिष्ट ऐसा होते हुए सन कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीय इसके द्वारा प्रार्थनीय है अविवेकियों के प्रार्थनीय जो पुत्र वित्तरण्यादि अस्थिर कथम अविवेकी के द्वारा प्रार्थनीय वस्तुओं को विवेकी होकर के यह जानते हुए मैं जरा मरणा संपन्न हूँ पर दोबारा जरा मरण को ही मांगेगा क्या और पहुंच कर कहा अजर अमर के पास पहुंचा निहाल हो गया राजा के पास गया बड़ा मांगने के लिए और कहा राजा साहब हम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम आपसे जो है केवल ग्यारह रुपये पूछना राजा कह गए तो मेरा अपमान करने है राजा के पास जो ग्यारह रूपये मांगो और सेठ से कहोगे एक हजार रुपया तो उल्टा इसीलिए हम जितना उत्कृष्ट के पास जाएंगे वहाँ उत्कृष्ट उसकी ही मांगने की चेष्टा उसी प्रकार यहाँ पर भी अविवेकी होगा जो पुत्र भी हिरण्य आदि अस्थिर वस्तुओं को वर्ण करेगा वह पदार्थ पाठांतर अथवा अलग पाठ कर वह तदास्थ करके भी पाठान पदस्थ नहीं है वह तदास्थ अश्विन पक्ष में इस पक्ष में इन शब्दों का अर्थ ऐसे करनी पड़ेगी अक्षर योजना इस प्रकार से तेसु तद आस्थ तद आस्थ तद मैंने तेसु आस्था यस्य किशु पुत्रादिशु उन पुत्रादियों में ही आस्था है मन आस्थिति तात्पर्य वर्तन यस्य वही मेरा जीवन का तात्पर्य लक्ष्य ऐसे मानने वाला स तदा तथो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्राप्तम भी प्राप्त हो वह तथो अधिक धर्म पुरुषार्थ उससे भी अधिक पुरुषार्थ हो दुष्प्राप भी प्राप हो प्राप्त प्रापितु जो अत्यंत कठिन है प्राप्त करना ऐसे को भी प्राप्त करने की इच्छुक हो कहा कहा वो कहा हम वह वे न कश्चित असारज्ञ तदर्थ ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो इन पुत्रादियों में असारत्व को जानने वाले असारज्ञ इन पुत्रादि वित्तादियों में असार है भूता वस्तु नश्वर वस्तु ऐसे जानने वाला व्यक्ति कभी भी तदर्थी न तदर्थी वह उन वस्तुओं का ही नहीं हो सकता सर्वा ही ऊपर ऊपर ये ये सारी दुनिया के स्वभाव है और आगे और आगे ही बढ़ना चाहता पांच पच्चीस पचास भाई गाते ही लोग था कुछ नहीं और किसी तरह से भंडारा का हाथ लग गया पांच रुपए मिल गया और पांच रुपया अगर चाहता मैं इसको दस बनाऊ दस से पच्चीस पच्चीस से पचास पचास से सौ सौ से हजार हजार से लाख लाख से करोड़ करोड़ गरब अरब से खरब खरब से सारा संसार मुझे चाहिए और आगे ही बढ़ना चाहता है घटना कोई नहीं चाहता इसे संतोष और अनुपम कर एक संतोष ही है जिससे व्यक्ति को सर्वोत्तम सुख प्राप्ति हो सकता है जो निन्यानवे के चक्कर में फंस गया उसका तो जिंदगी गोली खाए उन्हें नींद नहीं आ सकती गोली निन्यानवे के चक्कर भी यही श्लोक बनाया गया वेदांत चंदावली कार में जो है वेदांत केसरी महाराज ने लिखा है पांच पच्चीस पचास तो कहते हैं कि देखो उनके पीछे उन्होंने लिखा है एक बार बहुत बड़ा सेठ का घर था उसके सामने में छोटी सी झूठ झोंपड़ी वाला बढ़िया टमाटर खाए पी जो भी सूखा रूखा खा के सोता तो सेठानी कहती है मारा अपने पति से सेठ से हम लोगों के पास इतना सारे सुख सुविधा है हमें ठीक से नींद ही नहीं आती उधर तो देखी देखिए लोग कैसे खराटे मार रहे हैं यहाँ तक आवाज आराम से सो रहे ठीक ना निद्रा कहते हैं सेठ जी जिनको पता नहीं अब मैं तुमको तो चमत्कार कर दिखा तो क्या किया निन्यानवे रुपया करके एक वर्ष में ले जा सकते जब वो देखा कि सब इधर उधर गए झोंपड़ी में कोई नहीं है चुपके से उसमें डाल जब आए तो झाड़ू मारी उसको दिखाई दे पुटली मिल गया क्या है क्या है दरवाजा बंद करके तोड़ने उसको एक फिर अगला दिन मेहनत की जो मैं चालू किया अब वो जो है तीन सौ पचास एक सौ पचास दो सौ अब सौ से दो सौ में पहुंचे डेढ़ सौ में फंसा था ना गाड़ी अब फिर जोड़ जा रहा तो जोड़ झाड़ दिया तो दो सौ ग्यारह हो गया तीन सौ हो जाए तो अच्छा करते करते जोड़ते जोड़ते हजार दो हजार बीस हजार पचास हजार होते जा रहा है और दिन रात उनकी नींद हराम अब रोज ताला भी लगने लगा उसे जो चोरी न कर दे और कहा सेठ जी देखा तीन महीने के अंदर क्या अच्छा है आपने किया क्या बस मीनार के चक्कर बैठा उसने <laughs> इसी के चक्कर में फंसे बेचारा कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब तक इन चीजों से उभरता नहीं है कि स्वभाव आदमी के ऊपर ऊपर उठ रहेगा न ऊपर ही ऊपर ही तस्मात न पुत्र वित्तादि लोभ ही लोभ्यो हम सिर्फ मैं लेकिन ऐसा मूड थोड़ी हूँ मैं ऊपर होना जरूर चाहता हूँ लेकिन इन चीजों से मैं तो से साक्षात आपके समान ही हो जाना चाहता हूँ इसलिए पुत्र वित्तादि लोभों के मैं प्रलोभ्य नहीं हूँ किंच अक्षर प्रमुखान वर्ण हृदय प्रमोदान अवस्थित रूपतया अनवस्थित रूपतया अभिध्याय क्योंकि ये अक्षर आदि प्रमुख है जिनका ऐसे जो आपके जो रथ आदि जो है वर्ण हृदय प्रमोदान और आनंद प्रदाय की वस्तुओं की है जो इन सारे वस्तुओं को अनवस्थित रूप प्रति अभिध्याय मैं कैसे उसको सोचता हूँ ये सब अनित्य नश्वर है ऐसे जानते हुए समझते हुए निरूपयन यथा वत अधिर्ग जीवित अविवेकी इसलिए ऐसा जानते हुए निरूपयन विचार करता हुआ समझता हुआ यथावत अतिर्गे जीवित और में था यथावत निरूपण ऐसा में कर लो यथावत जानते हुए भी अति दीर्घ जीवन में कौन सी विवेक रमन कर सकता है कोई विवेकी जो रखना करेगा तो मूर्ख ही चाहेगा अतः मैं एक विवेकी होने के नाते अभी परिचय देते हुए एक तरह से कह दिया इससे आप समझ लीजिए मैं एक विवेकी हूँ और मैं इन चीजों को नहीं चाहता और मेरा निंदा वर्ग अपने आप उत्कृष्टता से लक्षित हो जाए कह नहीं रहे मैं विवेकी हूँ लेकिन व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि विवेक और वैराग्य से परिपूर्ण है ऐसे भाषण बोल और यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत्सान्तराये महति ब्रूषतिजङ्गरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृन्दे इसीलिए यस्मिन इदम विचिकित्सन्ते हे मृत्यु हे मृत्यु देवता इन अनित कामनाओं को इसलिए प्रलोभनों को त्याग कर जो मेरे द्वारा प्रार्थित था क्या यह सांप्राय सांप्राय थी मरने के बाद जिस विषय में यह देवता लोग तक भी संशय किया करते हैं जिस मरे हुए जीव के संबंध में इसमें